होना इस कुंभ स्नान से इतने में एक बूढ़ा बूढ़ी आए तो उनको देख करके उनको भी कही भगवान थोड़ा मदद करो आप वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी और खुद ये तीनों मिल करके शिव जी को किसी तरह से बाहर निकाल अब जाए तो लेके कैसे जाए और झुटू गए परेशान उन्होंने अपने पास जो तोलिया और लाया था फिर ये नहीं ले गए कोड़ी है और उसी से हमने पोछ पाछ दिया शुद्ध कर दिया दूसरा कपड़ा पहना दिए और कहें कि अरे देवी तू कहा बुढ़िया बूढ़े को लेके जाओगे कोरी को ऐसा है जाते ही पास कोई टोकरी खरीद के ले आते हैं और उसमें उसको चढ़ा देंगे और हम तो बूढ़े हैं हम तो लाभ के चल नहीं सकते किधर से उठा के तुम्हारे सर पर रख देंगे और तुम इसको ले चलो हमारे घर पर ले चलो वो दोनों नहाने के लिए भूल गए नहाना और उस बूढ़ा को किसी तरह से ले करके रात हो गया तब शिव जी बोलते देखा पार्वती स्नान किसने किए इसने तो किया नहीं तुम्हारे हिसाब से तो स्वर्ग नहीं जा सकता और जिन्होंने किया तुमने देखा उनके अंदर इंसानियत भी नहीं मनुष्यत्व भी नहीं तुम ही निर्णय लो आप किसने वास्तविक कुंभ स्नान किया कुंभ का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे इसका मतलब बात सही अब समझ में आ गया जितने लोग स्नान करते हैं सबको मुक्ति स्वर्ग नहीं होता उसी प्रकार भाष्यकार भी जानते हैं जितने लोग संन्यास रहते हैं सबकी मुक्ति नहीं होगी तो किसकी होगी इसे विशेषण जोड़ दे वेदांतार्थ तत्पर पंडित ही विगत दोष एवकार के साथ जोड़ देकर कह रहे का जो वेदांतार्थ को जानने वाला हो इतने से काम चलेगा नहीं पंडित भी होना जरूरी है पंडित मैंने ब्राह्मण जन्म लेना ऐसा नहीं पंडा विवेकशाली बुद्धि तदस्यती पंडित वह जिसके पास हो वो वेदांत तत्व को जाने वाले बहुत मिलेंगे रट्टू जो पुरुषों का रट उठ करके तोते जैसे बक बक बक करने वाले बहुत मिल जाएंगे इसलिए कहते हैं वेदांत तत्पर ही तरह से काम चलेगा नहीं वो विवेकशाली भी होना जरूरी है सत्यानृत को विवेक करके समझने वाला होगा इन सत्यानृत विवेक को जानने वाला भी दुकानदारी में लग सकता है तो कहते इसलिए विगत दो शरीर ये कार्य जो में नहीं विगत दो शरीर ये राग भय क्रोध आज सकल दो से रहित होता है और सत विवेक हो और वेदांत का पारक हो ऐसे जो संन्यास उसी के द्वारा परमात्मा दृष्टुम शक्यो नान्य रागारी कलुषित चेतो भी रागादि कलुषों से कलुषिता चित्त वालों के द्वारा कभी इसका अनुभव हो नहीं सकता और उनके बारे में तो क्या कहूँ जो अपनी अपनी संप्रदाय अपनी अपनी परंपरा अपनी अपनी दर्शन अपने अपने सिद्धांत में कट्टर होने वाले की तो क्या कहना है स्वपक्ष स्वपक्षपादी दर्शन ही तार्किक का अधिवृत अभिप्राय तो दोष से कलुषित चित्त वाले कौन है जो स्वपक्ष में परिपाप स्वपक्ष का पात्र पक्षपात करने वाले लोग हैं स्वपक्ष दुराग्रह करने वाले जो लोग हैं कौन है वो तार्किक आदि भी सबको दे ऐसे जितने कट्टर लोग होते हैं वे तो कभी भी उस आत्मा का अनुभव ही नहीं कर सकते हम कट्टरता का विरोध करते बहुतों को दुख होता है कि संप्रदाय का खंडन कर रहे हैं हमारी संप्रदाय की बदनामी कर दिया है बेजती कर दिया नहीं होता है लोगों को पेट में बड़ा दर्द होता है बरालगंज में दुकानदारों ने बंद कर दिया है वो भी फैक्ट्री बंद हो गया पेट दर्द दूर कैसे हो जिसमें विवेक नहीं होगा दूर हो नहीं सकता है वास्तविकता स्वीकार करना बड़ा कठिन काम कई लोग मिलते रहते हैं अभी क्यों आना बंद कर दिया महाराज आप तो उस दिन ऐसा बोल दिया कि हमारे गुरु जी वगैरह तो हमारी परंपरा तो वही है हमारी परंपरा का आपने कह दिया तो असनातन धर्मी त्रिगुणातीत हो गया है आपके जो है वर्णातीत है आश्रम आतीत है ये सब क्या संप्रदाय है वो बोल देता वो बड़ा बुरा लगा इसलिए हमने आना बंद कर दिया मैंने कहा कोई बात नहीं तुम मत आओ भाई तो आना नहीं अभी तुम जिसके लायक तुम नहीं रहो तुम आओगे तो फिर खराब हो जाएगा ना इसलिए अभी तुम्हारे अंतकरण उससे ऊपर उठने की योग्यता वाली नहीं है ना तुम अभी अगली सीढ़ी चढ़ने लायक नहीं हो बैठक मांडिक परिषद है मांडिक परिषद जानते सबको तो गर्दन काटने वाला है सबका गर्दन काटने वाला है किसी के भी अहंकार को जिंदा नहीं टिका सकता है जगत ही पैदा नहीं हो तुम्हारे तो संभ्रम हम रह गया है इसमें है जब जगत कोई पैदा नहीं हुआ बोल रहा है वो मानेगा अपने संप्रदाय को ऐसे प्रश्न को सुनना है तो दिल में पत्थर होनी पड़ेगी और ऐसा पत्थर जड़ बुद्धि से नहीं विवेक बुद्धि से पत्थर बनाने से संप्रदाय से ऊपर उठनी पड़ेगी अपने जात चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा तब मांडे को सुनने में आनंद आएगा और पचेगा नहीं तो मुश्किल है है अब ऐसे जगह में कहा तो सन्यासी जो लोग बैठे उन्हें तो बुरा लगता है भाई फिर धार्मिक मुक्ति मिलेगी नहीं ये क्या बात है बेकार है फिर तो करना इतना तो ऐसा कंडीशन डाल दिया है तो इस जन्म में तो होना नहीं सन्यासी बेकार ऐसे क्यों सोच है ठीक है ये सोचो कि हम इसके एलिजिबल है वर्तमान में नहीं ये तो लगे रहो ना क्यों में ये तो मना नहीं किया जा रहा है आप क्यों में मत लगी है ये तो अंतिम स्वरूप के लिए बता रहे उन्हीं के द्वारा अनुभव होगा ठीक है वहां के योग उस अनुभूति के योग्य हम यदि नहीं महसूस करते हैं उस अनुभूति योग्य जो विशेषण दिए हैं उन गुणों से युक्त हो जाइए उसके लिए प्रयास कीजिए उसके लिए आवश्यक निष्काम कर्म योग और भक्ति उपासना को करनी ही पड़ेगी और ज्ञान अभ्यास तो साथ है ही मैंने करो वक्त और ज्ञान का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे सोते ये बात हो जाएगा किसी एक को पकड़ के चल गए तो नहीं होगा लोग संन्यास लेकर के कर्म और भक्ति को त्याग देते हैं तो ऐसे लोग तो बस गए समझो उनकी तो कुछ कल्याण नहीं होने वाला है संन्यास आश्रम जो विदुषु संन्यास धारण करने का तात्पर्य ये नहीं है आप वो कर्म और भक्ति त्याग दें हाँ ठीक है वैदिक कर्म मत कीजिए वैदिक कर्म निश्चित क्योंकि आपने अग्नि का त्याग कर दिया है तो वैदिक कर्म आप नहीं कर सकते लेकिन काम कर्म योग जो कहा गया है कामनाओं को छोड़ करके यावत शरीर आप ये भी जानते जब तक शरीर है भाई न जात तुष्टत्व कर्म करो क्षण अपनी कार्य क्षण के लिए भी आपके शरीर कर्म के बिना रह नहीं सकता है तो कर्म करोगे ही तो करोगे होगा ही उसको निष्ठा से करो गुरु की सेवा में लगाओ गुरु आश्रम की सेवा में लगाओ आचार्य की सेवा में लगाओ ये कर्म है उसके लिए है क्या कर्म पहले बोल चुका है गुरु उपासन कहा था ना पहले तो वो तो हो गया कर्म और भक्ति भी कर्म ओम के साथ अभेद करते हुए कहा था ना पहले सगुण साकार को भी ओम से अभेद करता हुआ करो तो आप ओम तक पहुंच ही जाओगे इस वास्तव में संवादी भ्रांतियां हैं संवादी भ्रांति और विसंवादी भ्रांति खूब अच्छी तरह से पंचदशी में चर्चा हुई है संवादी भ्रांति में तो आप गलत को ले हैं गलत का आधार पर चल रहे लेकिन पहुंच जाएंगे सही में विसंवादी में गलत अगर पहुंचे गलत ही मिल गया तो विसंवादी भ्रांति यहाँ यही होता है हमें चाहना तो पड़ेगा नहीं साधन से सब मिथ्या है इन मिथ्या साधन वेद भी मिथ्या है उपनिषद में मिथ्या है इससे कोई संशय नहीं है इस मिथ्या साधन से हमें सत्य स्वरूप में पहुंचना है उसी के लिए साधन है जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसमें सत्यत्व और श्रद्धा बुद्धि को लेकर व्यवहार करना पड़ेगा तुझे सत्कार आसेवित धीरे काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ उम्र अभ्यास यानी धीरे काल हो निरंतर हो और सत्कार से सम्य प्रकार से श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम से युक्त होकर के सेवन करनी पड़ेगी तभी यह मिथ्यागत वस्तु से भी सत्यानुभूति इसको इस प्रकार से कहा है फिर बाकी देखते तस्मादेव विदित्वयम् अद्वैते योजये स्मृतिम अद्वैतम प्राप्य जड़वल्लोकमाचरे तस्मा इसलिए वीतराग भक्रोज मुनि जो वेद के समय प्रकार के ज्ञाता है वे इस निर्विकल्प आत्मा जो प्रपंच वशम स्वरूप अद्वै रूप आत्मा का अनुभव करते हैं इसलिए उन्हें एवं वीतरा इस अद्वैत आत्म को इस प्रकार से जान करके अद्वैत अद्वैत एवं स्मृति योजे अपने अद्वैत स्वरूप में ही मन को लगाया निध्यासन करे स्मृति मन निध्यासन अद्वैतम सोन प्राप्त और अद्वैत को सम्यक प्रकार से अनुभव करके अद्वैत को बड़ी प्रकार से प्राप्त कर स्वरूप में अवस्थिति को प्राप्त करने के पश्चात जड़ लोकमाचरे लोक में जड़वत आचरण का ऐसे आचरण किसी मालूम ही ना हो गया ब्रह्म ज्ञानी पता नहीं लगनी चाहिए किसी इस तरह का व्यवहार जान के करते रहना ताकि जो कोई आपके पीछे न पड़ जाए पता नहीं लगना चाहिए ये ब्रह्म ज्ञानी ये पता लग जाए तो सब आलतू फालतू लोग आ जाएंगे अनधिकारी लोग पीछे बढ़ेंगे और आपका स्वभाव होता है दया कृपा सब कुछ आप क्या समझेंगे है नहीं अधिकारी क्या अधिकारी आपके लिए सब ब्रह्म ही दिखेगा ना आपको दिखता तो नहीं अधिकारी या अधिकारी आपके दृष्टिकोण में ब्रह्म है अगर वो होता है अधिकारी तो यही समस्या होता है बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के देखो संस्था क्या होती है तो उनके प्रार कर्मशात उनसे संस्था तो बन गया लेकिन उसके बाद में सब दुष्ट राक्षस बैठ जाते हैं तो प्राधिकारी बनते क्यों जो सबको प्रेम से रहे उन्हें तो मेरे पड़ता है नहीं मुझे और होता है राक्षस उसको ब्रह्म समझ गए काम चलेगा नहीं ना इसलिए सब काम बिगड़ जाता है व्यावहारिक धरातल पे सब काम बिगड़ गया और उससे भी होने को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि वो तो अपने स्वरूप में स्थित है इसलिए कह दिया कि जड़वत आचरित उसकी व्याख्या करेंगे अगले कार्यक्रम में जड़ आचरित का मतलब क्या सर्वानंद प्रश्न रूपत्वाद अद्वयम शिवम अभयम मत एवं मतएव एवं मद्वैते स्मृति योजय जिसने सर्व अनर्थ का प्रश्न स्वरूप है विनाश स्वरूप है ये कौन अद्वैत वह शिव है मंगलमय है अभय रूप है इसलिए इस प्रकार से ही उसको जान करके अतएव विदित्वा एनम उस आत्मा को इस प्रकार से जानकर स्वरूप को इस प्रकार के जान से उस अद्वैत स्वरूप में ही स्मृति स्मृति योजे स्मृति का यहाँ टीकाकार कर सभी करें यहाँ पर जो स्मृति से तात्पर्य आसन को लेना योजित कर अद्वैत अवगम यही स्मृति कुरिया अद्वैत का अवगम के लिए ही स्मृति को करनी चाहिए स्मृति करने का मतलब शास्त्र अनुमत प्रयत्न से व्यतिरिक्त होकर के शास्त्र अनुमत प्रयत्न अनुसार नहीं स्मृति को करना है प्रत्यय प्रवाह के अनुकूल प्रयत्न करना ब्रह्मागार वृत्ति रूपी प्रत्यय के प्रवाह अनुकूल प्रयत्न को चेष्टा को करने का नाम यहाँ स्मृति कुरिया तच्च अद्वैतम अवगम्य और वह अद्वैत को समय प्रकार से अनुभव करके अहम अस्मी परम ब्रह्म क्या सम्यक अवगमन कहते अहम परम ब्रह्मास्मि ऐसा स्पष्ट रूपेण अनुभव कर लिया तब अशनियाद साक्षात अपरोक्षाद अजन्म आत्मान व्यवहार व्यवहारातीत क्योंकि वो आसनादियों से अतीत साक्षात जो अप्रोक्ष है वो अज आत्मा को उसने अनुभव कर लिया है अम तत् परम ब्रह्म अस्मी पर ब्रह्म कैसा है उसके वाक्य पर ब्रह्म आसनाद्यतीत है साक्षात अपरोक्ष है अज है ऐसे उस आत्मा को अहमेव अस्मी इस प्रकार अनुभव कर लिया तब सर्वलोक व्यवहार अतीत हो सर्वलोक व्यवहार से वो अतीत हो जाता है तो लोक व्यवहार से परे हो गया जो लोग ही नहीं उसके लिए तो उसके अपराय शरीर अपराध अनुसार रह रहा है लेकिन प्रारंभ कर्मानुसार होता है उस अविद्यालेश को लेकर के जो व्यवहार हो रहा हो उस व्यवहार को भी कैसे करना है कभी जड़ अवत लोकम आचरे अप्रख्याप प्रख्यापयन आत्मान अहम देव विधा इत्युक्ता मैं ऐसा एदार्श ब्रह्म ज्ञान वाला हूँ इस प्रकार से प्रख्यापन न करते हुए एकदम अन्य जड़ गति वाले जैसे होते हैं अज्ञानी लोग वैसे उसको रहना चाहिए साधारण अज्ञानी जैसे हुआ करता है उसको वैसे ही रहना चाहिए पता नहीं चलनी ऐसे क्यों फिर किस प्रकार सुख रहना चाहिए जड़वत रहने का मतलब क्या कयाचर्य या लोकमाचरे ऐसे कैसे आचरण होगा उसका जिससे वह लोक व्यवहार को निभाएगा वो भी वर्णन कीजिए निस्तुतिर हो निस्वदाकार चला चल निकेत को भवे न किसी का स्तुति करें न किसी का निंदा करें निर्नमस्कार किसी की न नमस्कार करें न नमस्कार स्वीकार करें कोई कर रहा है अपनी मर्जी करें आपको कोई मतलब नहीं कोई नियम नहीं है अरे हमारे पास आओगे तो दंडक प्रणाम कर नीचे लंबा लेट कर और जो है अपना भ्रगुट स्थान को जो है अपने जाने पर के अंगूठे में लगाओ ऐसा करते हैं नहीं लगा क्या तुम शिष्य हो प्रणाम मांगते हैं प्रणाम करना सिखाते हैं हाँ जी लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को कोई लेन देन नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है पहला को बोल के खड़ा खड़ा बोल के चुप बैठ गया तो भी कोई बात नहीं नहीं बोल के बैठ गया तो भी चल जाएगा महाराष्ट्र में तो आशीर्वाद दे देते हैं ठीक है महाराज नहीं ऐसा होता सिर्फ वार्ते हैं सीधे है अपने अपनी परंपरा अपनी अपनी प्रक्रिया लोग अपनाए हुए हैं आपस में एक दूसरे को सम्मान दे लेते हैं लेकिन इसको तो मान सम्मान से कोई लेन देन नहीं है इसे निर्म नमस्कार हो कोई पितृ पिता होता रहा होगा वो मर गया हो उसकी जो कर्मकांड भी करना पड़ेगा श्राद्ध वगैरह अच्छा, निस्वराधार कुछ भी नहीं कोई कर्म नहीं कर सकता कर्म भी नहीं करेगा दड़वत पड़ा रहता है किंतु चलाचल निकेत रहेगा भी तो रहेगा गाँव रहेगा कहीं तो कुछ करेगा तो नहीं इसलिए जान के पूछा कहा रहेगा वो रहता कहा है ये ज्ञानी तो चला चल ही उसके निकेत है चल मने शरीर जो चलायमान है और अजल सत ब्रह्मांड सर्वत्र व्यापक चला चल निकेत कौन है वो कोई यति है फिर भी यत्नशील है यह शरीर ताप पर्यंत यत्न भी होते रहता अविद्यालय से होते रहेगा तो शरीर अविद्यालय से तो जीवित है ना नहीं तो अविद्या का आत्यंतिक नाश हो जाए तो शरीर खत्म हो जाएगा कर कैसे रहेगा कारण ही नहीं रहते इसलिए अविद्या लेश को माना यावत तावत कर्म पर शरीर है तावत पर्यंत एक अविद्यालेश नाम का चीज इसके अंदर मानते जिसके माध्यम से यति व्यवहार करता है और वो भी कैसे व्यवहार कर रहा है वो यादृच्छिको भरे निरंतर यत्न करता हुआ अपने आप को स्वरूप में विश्राम ले रहा है और यदृच्छा लाभ से संतुष्ट है अर्थात किसी चीज के लिए प्रयत्न ही नहीं करता आ रहा है ठीक है नहीं आ रहा है सो ठीक है सुधी नमस्कार सर्व कर्म वर्जित त्यक्त सर्व बाह्य क्षण स्तुति नमस्कार आज सकल कर्मों से रहित रहता है क्योंकि उसने बाह्य वेषणाओं को त्याग साध्य साधन रूपा जो उभया वेषणा है उसको साध्य रूपा है और साधन रूपा है वेषणा दो ही है लोग करने के लिए तीन बोल देते हैं है कि नहीं पितेष्णा पुत्रेष्णा लोकेष्णा लेकिन पुत्र भी तो क्या है साधन तो है पुत्र से इस लोग को जीवित होगा से जो है ऊपर के लोगों को वित्त कर्म करो कर्म से जो है ऊपर लोग प्राप्त होता है इसलिए तो साधन रूपा होगा और साध्य लोकेष्णा होगा साध्य साधनेष्णा द्वेवा त्यक्त सर्व बाह्येषण इसने सगल बाह्येष्टाओं को त्याग दिया है साध्य साधन सब परे हो गया क्यों प्रतिपन्न पारमहंस पारिवराज्य प्राय हंस वृत्ति और पारिवराज्य वृत्ति को वह प्राप्त कर लिया है परमहंस पारिवराज्यम प्रतिवत्तम अशक्यम अप्रामाणिकता चेत होगा कभी जो है परमहंस जो वो पारिवराज्यता को कैसे प्राप्त करेगा हो नहीं सकता तब कहते कैसा है श्रुति प्रमाण है एकम वैतम मात्तान इस आत्मा को जान करके विथाया कर विचाचर्यम चरंदी सब का त्याग करके उच्चाचरण में घूमते फिरते रहता है इत्याश्वर्या भगवान तद्भुत आत्मा तनिष्ठा तत्परायण इत्यस्मृत गीता जी चलम मन शरीरम प्रतिक्षण मनता भावा क्षण शब्द से क्या लेना शरीर क्योंकि प्रत्येक क्षण यह अन्यता भाव को प्राप्त कर रहा है क्षण प्रतिक्षण ये जो है अपने ही मृत्यु की ओर जा रहा है लोग कहते हैं बढ़ रहा है इसकी आयु बढ़ रही है ये लंबा चौड़ा होते जा रहा है बढ़ रहा है इन बढ़ नहीं रहा है वो घट रहा है आदमी समझते ही नहीं अरे प्रतिपल उसकी आयु घटती जा रही है और मौत की ओर जा रहा है और लोग समझते बढ़ रहा है बड़ा हो रहा है शरीर का बड़ा होने से थोड़ा बड़ा हो रहा है वास्तव में शरीर नाश हो जा रहा है बड़ा क्या हो रहा है लोग उल्टा भ्रांति अचल मैंने आत्म तत्व हम अचल वो आत्म तत्व ही समझो जिसे समस्त ब्रह्मांड परिकल्पित है यदा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्तम यदा कदाचित क्या करता हो भोजनादि व्यवहार से निमित्त को लेकर आकाश अचल रूपम मातृत्व आत्म निकेतम आश्रय मातृ स्थिति विस्मृत्य अहम मन्य थे आकाश में जो अचल रूप को प्राप्त किया क्या उस आत्म स्वरूप को प्राप्त किया उस आत्म तत्व को भी उस आत्म रूपी निकेतन को थोड़ी देर के लिए आत्मस्थिति को विस्मृत वही अविद्यालय इसका थोड़ी देर के लिए अपने आत्म स्वरूप से हट करके काल कर्मश से शरीर में आ गया खाया पिया फिर अपने आत्म स्वरूप में चला गया विस्मृत अहम नित्य मन यदा जब शरीर में अहम करके चल निकेत में आ गया अचल निकेत से चल निकेत में जब आ जाता है तथा चलो देहो निकेतो यशिया चल रूपा देह ही निकेत जिसका स्वर्ण एवं चला चल निकेत ऐसा जो है व्यक्ति कभी चल निकेत वाला हो जाता है कभी अचल निकेत वाला हो जाता है ऐसा जो विद्वान है न वायु विषय आश्रय रहा लेकिन वो कभी वायु विषयों का आश्रय करता ही नहीं अंतर यह है बाह्य विषय से तो वह मिथ्या पिता दृढ़ निश्चय है उस विषय में उनके साथ आसक्ति होकर के तद विषय घटपड़ा विषय में आश्रित होता ही नहीं है तो होता है अविद्यालय के द्वारा प्रारक्रम के वजह से ही केवल कभी कभी इस शरीर में आ जाता है व्यवहार तो कर्मानुसार है इसको खिलाना है पिलाना है नहलाना है उसी समय में आ गया नहीं तो वह अपने स्वरूप सदा है अच्छा इसलिए वह व्यक्ति हम कहते हैं कि यादृच्छिक तो यादृच्छिक होता है यदृच्छा प्राप्त कौपी न आच्छादन ग्राह मात्र स्थिति ही यदृच्छा से प्राप्त कौपी न आच्छादन ग्रास में भोजन आदि देह मात्र की स्थिति के कारण वो तत्व से ही वो सुप्रसन्न रहता है अन्य किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं है कोई चीज की आकांक्षा नहीं है कईयों की आकांक्षा रहती देखो ये रहता है अरे हमारे पास आता नहीं रहता तो ऋषिकेश में नहीं हमारे यहाँ पढ़ा लिखा और हमारे पास आता नहीं क्या था जिंदगी भर और इनको क्या कहूँ उनके अंदर अभी अपेक्षा है कि वह आवे फूल लेकर के प्रणाम करे दंड मारे तब उनकी अहंकार संतुष्ट हो गया ये जो है आ गया मैं प्रणाम कर सब खुशी होगी नहीं तो बड़ा चढ़ते रहते हैं उल्टा उल्टा बोलते रहते हैं और साल में एक आध बार तो जाना पड़ेगा ना मथा टेकना पड़ेगा नहीं तो फिर बिगड़ जाएंगे क्या करें बिगड़े तो बिगड़े हाँ, हमसे तो कहते हम तो बिगड़ गए तो में क्या दिक्कत हो रहा तभी तो मिथ्या ही है प्रसन्न थे तो मिथ्या था और उनका बिगड़ना भी हमारे लिए मिथ्या है जाओ बोल दे रहा परेशान क्यों होते तो तुम्हें परेशान मत हो बिगड़ रहे तो बड़ा बहुत कष्ट हुआ व्यक्ति को आपके ऊपर उल्टा सीधा ऐसे ऐसे बोल रहे थे बड़ा परेशानी हुई तो आप भी परेशान होते हैं तो उनका बड़बड़ाना भी मिथ्या है उनका प्रसन्न होना भी मिथ्या है क्यों नहीं सोचते वर्तमान में तो तुम्हारा प्रसन्न हो रहा है तुम्हारा तो जो परेशानी है वो भी मिथ्या ही है अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं ठीक है कोई मान रहे मानने तो नहीं मान नहीं मानने लेकिन भाव आता है कब बहुत ही मुश्किल से उसको मेंटेन करना पड़ता है बारम्बार वर्ष में वापस लौटना पड़ता है इसको का यत्न कर स्मृति स्मृति कुरिया बार बार अभ्यास को दिव्य अभ्यास को करते ही रहना पड़ता है फिर वही आएगी फिर कोई ना कोई आएगा वो तो माया भेजती रहती परीक्षा लेने के लिए किसी को भेज देगी वो आगे आपके कान ठोक देगा महाराज आप कैसे ऐसे बोल रहे थे आपकी दिमाग भड़क जाएगा है मेरे को ऐसे कहा गलत हो गया ना फिर उसमें भड़कना नहीं है वो परेशान है तो उसको समझाओ चमचे को बताओ थोड़े नहीं तो का को चमचागिरी कर रहा है भाई है तो पहले सच्चे हृदय से तुमको परेशानी हुई तब भी ठीक नहीं परेशानी मान रहे हो भी अच्छा नहीं क्योंकि जो मुमुक्षा का लक्षण नहीं है ना किस बात की परेशान बाय शब्द सुन लिया किसी के मुख्य और से परेशान हो रहे हो तो अज्ञान है ना इसलिए विवेक करो ये सारी बातें ऐसी होती रहती है संसार का स्वभाव है और स्वभाव से तय होना पड़ेगा ये नेत्र तो झाल आपसे संतुष्ट होता है इसे इन बातों से वो कभी घबराता नहीं गुरुणा भी दुख विचार है तो दिया आप इसको प्रकरण का अंतिम गायिका और ब्राह्मी भूत व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति में रहते हुए कैसे रहता है तत्व आध्यात्मिकम दृष्टा तत्व दृष्टा तत्ती भूत प्रच्युतो भवे तत्व आध्यात्मिकम दृष्टा शरीर रूपी अधिष्ठान पर देख रहा है ये भी दृश्य तत्व दृष्टा आकाश आदि जो बाह्य है उन अधिष्ठानों को भी देख रहा है सबको दृश्य रूपेण अनुभव कर रहा है भूत सन ब्राह्मी भूत होकर तदाराम ब्रह्म स्वरूप में ही आराम करता हुआ तत्पाद प्रचित भवे पर तत्व कभी प्रचित न हो तो स्मृति संति जो निध्यासन प्रत्येक प्रवाह का अनुकूल जो प्रयत्न है वो भी किसी काल विशेष में नियत नहीं है किंतु निरंतर होना चाहिए निरंतर ही अनुभव और दृष्टि बनी रहनी चाहिए कि यह शरीर भी दृश्य है और यह बाह्य जगत भी दृश्य है सर्वम दृश्यम तो सर्वम ब्रह्म में गए दृष्टि से ऊपर उठने के लिए और बाद में सर्वम मई आत्मनिय परिकल्पितम अतएव सर्वमिदम दृश्य ये अंतिम स्वरूप माना पड़ेगा तभी जाकर के हम ब्रह्मास्म स्थिति बनेगी मैं सर्वम ब्रह्म में भी नहीं मान सकता तो समष्टि भाव में आप गए लेकिन वो भी मुक्ति का स्वरूप नहीं है बाह्य मैंने पृथ्वी आदि तत्व कंचा देहादि लक्षण बाह्य से क्या लेना पृथ्वी आदि तत्व को ले लेना और आचार्य से देहादि रूप वस्तुओं को ले लेना रज सर्वादिवत स्वप्रम्बादिवत असत निर्णय कर लो दृढ़ता पूर्वक रज सर्वादि के समान स्वप्रगत माया आदि के समान इनको अत्यंत असत करके परिदृश्य मान अत्यंत असत मायामय को वस्तु करके निश्चय कर लेना है यह दृढ़ होना चाहिए कि वाचारंभन विकार नाम मिथ्या है ईश्वर के अनुसार ये सब वाणी का विलास महाचो विज्ञापन जैसा वाणी का विलास मात्र ही है ऐसा दृढ़ निश्चय रखे आत्मा सब बाह्य केंद्र ही है जो पूर्व नंद्र बाह्य है सूक्ष्म चलो निर्गुण निष्कलो निष्क्रिय तब सत्यम से आत्मा तत्व उसी झांडे वर्णन करते स आत्मा वो जो आत्मा कैसा है स बाह्याभ्यंतरो उसे बाह्य और आभ्यंतर सब कुछ परिकल्पित है और वास्तव है भी नहीं अजो बाह्याभ्यंतर वस्तु भी वास्तव में नहीं क्योंकि आत्मा है कारण भाव करे तो अपूर्व आनंद रहो कारण भाव सहित है अब आइया इसलिए सदाया भी है अब आइया भी है साभ्यंतर भी है अनंतर भी है आकाशोत सर्वदा कृष्ण वह पूर्ण है आकाश के स्वाम सर्वद व्यापक है सूक्ष्म भी है अचल भी है निर्वय निष्क्रय निष्क्रिय है तत्सत्य वही सत्य है वही आत्मा है वही तुम हो विश्वदया तत्व दृष्टा तत्वभूत इस प्रकार से तत्व को अनुभव करके तत्वीभूत तदाराव ब्रह्मीभूत होकर तत्वीभूत बने ब्रह्मीभूत सन ब्रह्म भाव को प्राप्त करके अबाधित स्वरूप स्थित होकर के तदारामो न बाह्य रमणो आत्मा में ही रमण करने वाला आत्मा आत्मा राम हो जाएगा आत्मा राम आत्म क्रीड़ा ऐसा स्थिति को प्राप्त करेगा वो न बहिर्मणो बाह्य विषयों में शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर स्वस्थ में किसी में भी रमण नहीं करता यथा दर्शी कश्चित चित्तम आतत्व प्रतिबंध जैसा कोई दर्शी है क्या करता है अपने चित्त को ही आत्मा मान लिया उसने चित्त को ही आत्मा मान लेता है कदाचित बनते कभी ऐसा भूल चुक से उसने मान लिया प्रतिपन्न चित्त चलनम अनुचलितम आत्मान मन माना चित्त चलायमान होने पर उसके अनुविधान करता हुआ आत्मा भी चलायमान हो रहा है ऐसा मान लेता है वो अज्ञानी आतत्वदर्शी तो वो अपना स्वरूप से विचलित हो गया तत्ता चलितम देहादिवतम आत्मनम कदाचिन मन दे देहादि स्वरूप को आत्मा करके वो कभी कभी मान जाए मान जाता है अतएव प्रच्युतो इसलिए वो असतदर्शी अहम आत्मतत्वदानी मैं आत्मतत्ता हूँ इस समय इसलिए मैं तो इससे छुत प्रच्युत समाहित मनसी क्योंकि समाहित मन में होता क्या है शास्त्र उपदेश आचार उपदेश आदि के द्वारा कृतार्थ व्यक्ति का समाहित चित्त के अंदर कदाचित तत्वभूत प्रसन्नात्मान मन्यत इधानीम भूत वही व्यक्ति जो फिर मन में क्या मानने लगा मैं तो अब क्या है तत्वभूत हो गया हूँ प्रसन्नात्म स्वरूप हो गया हूँ ऐसा वो मान करके अपने आप को ब्रह्मी भूत मानता है दोनों ही मन में ही हो रहा है मैं आतत्व रसीद अब तत्वर्षी हो गया ये दोनों ही मन गए मन में ही हो रहा है इधर पहला वाले में क्या था मनसी अब भी कह रहे मनसी दोनों ही मन में ही वृत्तियां बनती है इधर मन कारण बंध मोक्ष न बंधो न मुक्ति ये भी कह दिया मैंने पहले वास्तव में आत्मस्वरूप था आत्मस्वरूप दृष्टिया देखेंगे न बंध न मुक्ति सारा मन में ही खेल चल रहा है मन ही बंधन में पड़ा है और वही अपने अज्ञान के चक्कर फंसा है उस अज्ञान का हम निवृत्त करेंगे और मन में निश्चय होगा कि हम बंधन में नहीं है हम मुक्त है हम ब्रह्म है न तथा तो आत्मविद भवे लेकिन वास्तव में आत्मविता के अंदर ये भी नहीं होता कि मैं ब्रह्म हो गया हूँ मैं ब्राह्मी भूत हूँ ये भाव इसके अंदर नहीं आना चाहिए जो ऐसा आएगा वो अभी कच्चा है मामला अभी मामला कच्चा है वो जो ये सोच रहा है मैं भूत हो गया हूँ ब्रह्मीभूत हो गया हूँ मैं श्रोत्र ब्रह्मष्ट हूँ ज्ञान पीठ का पहला वार्षिक उत्सव हो रहा था उस समय हम लोगों ने नेम प्लेट बनाया नेम प्लेट होते है जहाँ उसके सामने बोर्ड रखी जाती है तो लिखा जाता है हम लोग सबके सामने माँ मम जो मंडलेश्वर होते ना माँ मम लिख दिया माँ मंडलेश्वर माँ और मम बोलती फिर आगे उनका नाम लिख दिया स्वामी अमुख अमुक तो एक है विषांत विशेष तो उनको वो आए सवेरे सवेरे छह बजे एक दिन पहले ही थे ऋषिकेश के तो घूमते फिरते आ गए तो आ गए तो उन्होंने सब बोर्डों को देखने लगे तो बन रहा था बात पेंट हो ही रहा था उन्होंने अपने नाम का बोर्ड खोल के देखा उसमें तो उम्मा मम तो है नहीं सीधे स्वामी लिखा हुआ था स्वामी अमुक और जो है वो बिगड़ गए कौन लिख के दिया मैटर है देखना चाहिए छोत्र ब्रह्म श्रीमत देखो क्या गई और नाम तो लिख चुका था लिखेंगे कहाँ उसको दो रुपये बिठाना पड़ेगा झंझट उसने क्या क्या पेंट ने कहा अच्छा मारा आप जो कहेंगे वो भी हम लिख देंगे क्यों परेशान हो रहे लिख दिया सूत्र बने श्रीमत स्वामी है ना और उसने श्रीमत का बगल में एक एरो दे दिया चिन्ह और ऊपर छोटे अक्षर में लिख दिया तो बोल के चले गए लिखा करके और दूसरे दिन जो आगे स्टेज बैठ गए गीता पाठ अच्छा वैसे होता ही है उनकी नेतृत्व में होता था अभी भी होता है तो वो बैठ गए फिर बोर्ड को देखे छोटे अक्षर में लिख दिया है तो। बड़ा मूड ऑफ हो गीता पाठ ही नहीं किया क्या होगा हम भी बैठे हैं गीता पाठ करने और भी लोग बैठे हुए हैं इनके मुंह में दो चार श्लोक भी ढंग से ना निकले मौन हो जाए फिर इधर उधर फिर बोले दो चार श्लोक फिर मौन हो जाए तो समझ में नहीं आया क्या बात संक्षिप्त है अगर उसके बाद कार्यक्रम हो जाने के बाद में पेंटर तो को उन्होंने पकड़ा हुआ भी, भी है पेंटर पूछा भाई कौन कहा तेरे को छोटा अक्षर लिख रहे तो अच्छा वो किसी का नाम ही वास्तव किसी ने कहा भी नहीं था उसको उन्होंने अपना ही दिमाग लगाया मैंने कहा कि दोबारा सारा करना पड़ेगा और इतना समय भी नहीं है तो इसलिए मैंने अपने मर्जी से उपयोग कर दिया बहुत डांटे उसको हकल नहीं तेरे को ये वो इधर बहुत बनता क्या दिक्कत कौन सी कमी बताओ उस स्रोत श्रीमद न निकले अगर परेशानी हो रही है और याद करो मानेगा ही नहीं मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ वो मान रहे अपने आप को और जो अगर न लिखने पर इतराज कर रहे हैं इसका तो उनकी स्थिति क्या होगी आप अनुमान कर सकते तो कहते हैं न तथा आत्मविद जो ये भी नहीं मानता अपने मन में कि मैं ब्रह्म ही भूत हो गया हूँ आत्म एक रूपत्वा स्वरूप प्रच्छ असंभवाच्छ क्योंकि आत्मा एक स्वरूप वाला है स्वरूप प्रचित न कभी हुई न हुआ है न होगा न कभी फिर बाद में उसको सही करना पड़ेगा ऐसा कोई मामला है सदैव ब्रह्म अस्मृति बात प्रच्युत सदैव ब्रह्म ही था अभी भी वो सदा भी हो इसीलिए वो अप्रच्युत ही रहता है तत्त सदा अप्रचुतात्व तत्व दर्शित भवे तत्व से सदा ही मैं अप्रचुत रहा हूँ ऐसे आत्म तत्वदर्शी अपने आप को मानता हुआ रहता अभिप्राय श्री जय सभागे जीता समम सर्वेश भूत इत्या स्मृतिया स्मय प्रमाण है दृश्य में भी वही है अदृश्य में भी वही है दृष्ट रूप में भी वही है सब कुछ वही है ना अलग तो है ही नहीं अब तर्क के आधार पर द्वैत मिथ्यात्व के द्वारा द्वैत सिद्धि कर दिया अब अद्वैत जो आर्थिक जो पहले आपने अर्थ तो सिद्ध किया ना अद्वैत साक्षा सिद्ध नहीं किया तर्क से तर्क के माध्यम से द्वैत को मिथ्या सिद्ध कर स्वप्न का दृष्टान पर बार बार विवेचन रजस्व बार बार विवेचन करते हुए द्वैत मिथ्यात्व द्वारा अर्थतः अद्वैत सिद्ध कर दिया और अब क्या करने जाएंगे साक्षात अद्वैत सिद्ध करने जाएंगे इसलिए अद्वैत आख्यम तृतीय प्रकरण आरंभ हो रहा है कहते देखिए तर्कावस्थ द्वैत वैथत्व निरूपण समाप्य अद्वैत आर्थिक तर्क संभावित प्रकरणांतरम उपास्य उपास भेद दृष्टि तावत साथ से पहले उपास्य उपासक भाव जो विद्यमान है आपका द्वैत वहां आज खंडन आरम्भ शुरू करें तर्क के द्वारा आप साक्षात अद्वैत सिद्ध करने जा चले तर्क से द्वैत का अभाव को सिद्ध किया द्वैत की मिथ्यात्व सिद्ध किया और द्वैत मिथ्यात्व होने के कारण रह गया तो कि तो अर्थता द्वैत सिद्ध इस प्रकार से वैठत्य प्रकरण या मिथ्यात्व प्रकरण आपने पढ़ा और अब इसलिए साक्षात अद्वैत तर्क से अद्वैत सिद्धि का प्रकरण आरंभ होता है तो उपासना श्रदो धर्म जाते ब्रह्म निवर्तते प्रागुत्पत्ते रजम सर्वम तेनासौ कृपणा स्मृत तेनासौ कृपणा स्मृत कहते कि देखो उपासना आश्रित धर्म जाते ब्रह्म निवर्तते उपासना में आश्रित जो धर्म है मैं उपासक हूँ और ब्रह्म मेरा उपास्य है इस प्रकार के मोक्ष के साधन रूप से जो उपासना हम करते हैं निरूण ब्रह्मोपासना कहा जाता है जो उसमें जो जो धर्म की कल्पना करते हैं तो उस उपासना का आश्रय करने वाला जितना भी ब्रह्म है और जीव ब्रह्म कार्य ब्रह्म में रहता है जीव ब्रह्म उपासना कर रहा है और उसको निर्गुण निराकार इत्यादि रूप में जिसकी उपासना करता है उपास्य होता तो जो ब्रह्म कार्य ब्रह्म ही है तो शुद्ध नहीं हो सकता इस शुद्ध की कोई उपासना कर ही नहीं सकता कल भी आया तो एक ही विध है निर्गुण भक्ति का अनेक विध हो नहीं सकता तो अनन्य भाव से रहेगा और कोई रास्ता है ही नहीं और इसलिए कहते ये जो हम कहते हैं हम अमुक अमुक अमुक धर्म से मैं अपने उपास्य की उपासना कर रहा हूँ तो यह अभाव यदि है तो वह द्वैत निष्ठ है तो वह कार्य ब्रह्म ही हो सकता है शुद्ध ब्रह्म में नहीं पराग उत्पत्ति है अजम सर्वम क्योंकि इनकी उत्पत्ति से पूर्व सब अजन्मा ब्रह्म रूप ही जो धर्मी आप कल्पना कर रहे हो जिन धर्मों को आप मान रहे हो और अपने आप को पाचक स्वीकार कर रहे हो इस जगत के अंतर्गत इस जगत सहित आप उपासक उपास्य और उपासना यह समस्त त्रिपुटी क्या है उत्पत्ति से पहले क्या था यह सब ब्रह्म उपास्य उपासक उपासना प्रभु त्रिपुटी जो आपने मान लिया है इस त्रिपुटी की उत्पत्ति के पूर्व में ये सब ब्रह्म ही उत्पत्ति प्राग अजम सर्वम सर्वम ने सर उपास्य उपासना और जो भेद आपने माना धर्म धर्म भाव को अपने स्वीकार किया ये सब कुछ वास्तव से पहले ब्रह्म इसीलिए उस विशाल ब्रह्म को जो कि आराध्य अनंत स्वरूप है जिसके स्वरूप में कोई धर्म की परिकल्पना नहीं उसे धर्म की परिकल्पना उसको क्षुद्र बना दिया परिच्छिन्न कर दिया देश डाला जिसे परिच्छिन्न करने का प्रयास जो किया है यही आपकी अपनी कृपणता है तेना सौ कृपण स्मृता मन सब कुछ होते हुए रहते हुए भी नहीं देने को तैयार तो जो बोला रुपया रोया याद है सेठ की कहानी रुपया ही रोने लग गया क्या करो इसलिए ना नोट को डाला ही नहीं वो है ना सेठ जी थे एक बार कभी दान पुण्य नहीं करते पत्री थोड़ी बहुत छुप छुप करके कर लेते जो खर्चा पानी मिलता था उसी में से एक बार दिवाली के आसपास पास प्रसन्न जबरदस्ती धनतेरस का दिन पकड़ के ले गई अब सेठानी क्या सामने कहा तक चलेगा उसका बहाना बना नहीं पाया बेचारा चल पड़ा साथ में जाते हुए दूसरे तो ने सोच लिया अब जाएंगे तो मुश्किल काम होगा वहां पर तो कुछ देना पड़ जाएगा इसलिए पुराना सड़ा गला नोट जो था उसको उसने जी में रख लिया और चल गया सैताली के साथ मंदिर में गया मंदिर में आरती पूजा हो रही थी बड़ा तारे बजा कर गोगे बड़ा गा रहा है बड़े मस्ती से लोग देख कर गए सेठ जी तो कहीं आते जाते नहीं आज आ गए अरे लोग हो रहे भक्ति में कमाल है मैंने क्या मेरे पेट में क्या दर्द हो रहा लोग तो समझ रहे बड़ा भगत बन गया बहुत ही अच्छी बात है हमारा गांव का सेठ जो है इतना सुधर गया तो बहुत अच्छी बात बहुत खुश हो रहे थे लोग और वो भी बड़ा भक्ति से आरती हुआ अगर उसके बाद जगह घंटी बंद हुई तो देवता कहा क्या हो रहा है और उसने पानी वानी उतारी और यूं मारी और सब कुछ कर करा जो आरती को लेकर जनता के बीच में चल पूजन हम जो दो ढेड़ ढेड़ कोई पांच कोई दस कोई एक कोई दो कोई आठ आना कोई चौवानी डाल रहा आरती ले रहे हाँ धक धक धक करने लगे हाथ बैठे ये क्या हो गया अब तो जाना ही पड़ेगा लगता है बार बार हाथ डाले जेब में नोट को खोले देखे फिर वापस कर नोट को देखता था फिर करता फिर उधर देखता था वो वो आरती देखे और अंदर करी करते करते करते जो है आरती बिल्कुल पास में आया उसको पकड़ लिया जोर से नोट पकड़ लिया और घबराहट भी हो रहा है ना अध्याय पड़ जाए और उसके मारे पसीना हो गया अब पसीना से नोट में गीला हो गया अब जब बिल्कुल सामने आ गया पकड़ खुल रो रहा है नोट वो डाला ही नहीं खाली हाथ करके सेठानी भी देख रही थी सेठ जी कितना डालेंगे उनकी चाल भले दुनिया को बताना चले सेठानी तो पहचान लेती ना वो तो खाली हाथ डाला ही नहीं आकर के पूछी घर पर आपने क्यों नहीं डाला कुछ फिर बेइज्जती कर दिए तो सब लोग देखे हैं तो जो देखे हैं कुछ नहीं डाले कितना बुरा लगेगा अरे तुम तो नहीं जानती है देखो ना नोट रो रहा है दिख गया रोते रोते किसी में डाल छोड़ देता है इसको मेरे को छोड़ना नहीं चाहता मैं किसे छोड़ दो आज इसे नहीं डाल जब इतने आप करोड़पति आदमी इतना विशाल अपने आप कभी किसी चीज की नहीं और एक रुपये के पीछे जो है फटा नोट के पीछे